ॐ आत्यायन्तु मानवानि वाक्प्राणश्चक्षुस्तोत्रमोन्द्रियाणि च सर्वाणि ब्रह्मया कुलेन पदात्मयते उपनिषत्सु धनमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार कर रहा था मंत्र था न तत्र वाक गच्छते न चक्षुर गच्छते न वाक गच्छते नो मानो न बिन्मा न बीजानीमा यथा ये तो अन्य देवता पीड़िता अथो अविकार है उसमें है उसमें अन्य देव तदविदिता का अर्थ हो चुका है वो तो कार्य को किसी भिन्न है वो और कारण जो तो अव्यक्त है उससे भी भिन्न है कहने में वही चल रहा है भिन्न है तो जो भी संसार में पदार्थ है दो कोटि हो या विदित है या अविदित है जो भी पदार्थ होते हैं वो तो दोनों से भिन्न होता है आत्मा आत्मा को जानना भी मुश्किल है न जानना भी मुश्किल है दोनों असंभव नहीं है तो अपना स्वरूप है जानना न जानना अपने से भिन्न हुआ ऐसा कहा उसके लिए कोई विज्ञान की अपेक्षा नहीं है जो अज्ञात पदार्थ होगा उसको जानने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है आत्मा ऐसा अज्ञात नहीं है उसके लिए विज्ञान की अपेक्षा नहीं विज्ञान की अपेक्षा दूसरे को है दूसरे को है जो कि बुद्धियादि प्रधान करके चलने वाला जीवात्मा जिसको बोलते हैं जीवा को स्वरूप लेकर के चल रहा है उसको विज्ञान की अपेक्षा होता है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा को विज्ञान की अपेक्षा नहीं ऐसा कहा तो पूर्व पक्ष ने कहा कि महाराज तब तो फिर ये तत्व तो उसे आदि महावाक्य का उपदेश व्यक्त हो जाएगा वो ज्ञान स्वरूप है उपदेश किसके लिए ज्ञान के लिए ज्ञान स्वरूप को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तत्वशाली महावाक्य का उपदेश व्यक्त हो जाएगा ये कहा और दूसरी श्रुति है आत्मा में अवे अपने को ही जाना तो ये भी व्यक्त हो जाए क्यों वो ज्ञान स्वरूप है पहले से उसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है दीपक को दूसरे दीपक की आवश्यकता थोड़ी है बस तो प्रकाश का श्रुतियां व्यर्थ हो जाएगी एक गुरुवार ने कहा था ये त्रिगोदार का क्योंकि दृष्टावतीय पूर्वादि नहीं आदित्य अन्य प्रकाश है सूर्य किसी दीपक के द्वारा प्रकाशित होगा क्या स्वयं प्रकाश रूप है तो स्वयं विज्ञान रूप आत्मा है तो उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे विज्ञान की क्या आवश्यकता है अतः तदन भगवत उपदेश उस तत्वशी आदि वाक्य का अर्थबोध तद माने तत्वशी आदि महावाक्य है उसका जो अर्थबोध होना है वहां उपदेश उसके अर्थबोध कराने के लिए उपदेश करना है तत्वशी आदि महावाक्य समर्थन विधि जैत माओ काम ने कहा इसकी टीका है बड़ी विशिष्ट से मिथ्यात्वाद विशिष्ट जो होता है मिथ्या होता है जो बुद्धियादि विशिष्ट है मिथ्या है उसको उपदेश होना संभव नहीं ब्रह्मास्म की अनुभव होगा उसको ब्रह्मास्म ज्ञान होगा ही नहीं तो स्वयं मिथ्या वस्तु ही नहीं मिथ्या वस्तु होता ही नहीं तो उसको हम ब्रह्मास्म ज्ञान होना नहीं है तो मसी सुनने के पश्चात उसको अनुभव क्या होना चाहिए हम में अनुभव होना चाहिए किंतु तो विशिष्ट जो होता है वो मिथ्या है तो उसको तो अहम ब्रह्माष्ट होना नहीं है उसके लिए उपदेश व्यर्थ है विशिष्ट मान जीवा जीव को व्यर्थ है यही टीका कहा विशिष्ट से मिथ्या मिथ्या वस्तु है इसलिए ब्रह्माष्टमी यदि अनुभव अयोध्या ब्रह्माष्टमी से अनुभव हो नहीं सकता उसको अच्छा मोक्ष अर्थत्व अयोगार्थत्व मोक्ष की योग्यता भी नहीं उसमें और जो मिथ्या है उसकी क्या मुक्ति होनी है वस्तु ही नहीं है वो उसको मोक्ष की योग्यता भी नहीं उसमें इसलिए तत्वशी उपदेश से इस सिद्धांत के देश बोलते हैं कि तत्वशी उपदेश इसलिए नहीं करता है मिथ्या है ऐसा मानव को ब्रह्माणा एक उपदेश वस्तु फिर ब्रह्म उपदेश हो जाएगा तत्वशी द्वारा ऐसी शंका कर सिद्धांत एक दिशी शंका करे गुरुवादी के ऊपर तो बोलता ही नहीं वहां ब्रह्म को जाना नहीं बोला क्या बोला आत्मा ये वाले अपने को जाना आया तत्व तो से सुनने के बाद में ब्रह्म को उसने जाना ऐसा अर्थ होता तब तो ठीक था ब्रह्म के लिए उपदेश मान लेते तो आत्मान एवं अवेद आया ब्रह्म शब्द नहीं है आत्मा शब्द है आत्मा को जानना ऐसा शब्द है इसलिए ब्रह्म को उपदेश होना भी संभव नहीं ये पूर्वादि था आत्मा में अवैध इत्यादि नित्य करता नित्य बोध स्वरूप आत्मा के लिए उपदेश करता हूं अच्छा ठीक है एवं आवली वाक्या ऐसी वाक्या सैकड़ों वाक्य है तत्वशी आदि महावाक्य आदि बहुत हैं एवं आदि वाक्य इस प्रकार के वाक्य जितने भी हैं ब्रह्मोपदेश पक्ष न संगठे न संगच्छनते ब्रह्मोपदेश पक्ष में संगति इनकी नहीं होगी क्योंकि आत्मा में जो अवैध शब्द आया है अपने को जाना शब्द है ब्रह्म को जाना तो नहीं आता तत्कंड फलाभाव दूसरी बात ब्रह्म को जान करके क्या फल होगा हम संसारी वर्ग बैठे हुए हैं अज्ञान होगा दूसरे का किसका ब्रह्म का तो हमें क्या फल मिलेगा हम भूखे हैं दूसरा व्यक्ति भोजन कर लिया हम तृप्त हो पाएंगे क्या तत्चरित फलाभाव वो ब्रह्म घटित जो ज्ञान होगा उससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान का फल नहीं होगा मोक्ष नहीं मिलने वाला तीन नंबर टिप्पणी नित्य तत्व इससे तात्पर्य नित्य तत्व कहा था भाष्य में इसलिए जन्म फलाभाव वाक्य जन फल बोल रहेगा वाक्य जन फल क्या है ज्ञान ही है और स्वयं ज्ञान स्वरूप है पहले से ही तो उसको क्या करना ठीक है बाकी जन फलम बोल रहे भगवती सर निर्विकार बोधात्म भगवत्म सहमति निर्विकार बोधात्म स्वरूप में वो विज्ञान पैदा करना संभव नहीं एक तो निर्विकार है उसमें विकृति होना ही नहीं है और बोध रूप है पहले से ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञान पैदा करना संभव नहीं है बाकी कितने भी बोले वहां पर वो मैंने ज्ञान पैदा नहीं कर सकते या विशिष्ट से रूपाधिक से जब ब्रह्म उपदेश असंभव भी उपाधि विशिष्ट चित स्वरूप जीव पदलक्ष्य से वैशिष्ट द्वारे उपदेश भविष्य फलम तस् आरोपित वृत्ति सिद्धांत बोलते हैं मामा करके बोला जा रहे हैं लोक अध्यारोप मोहार्थ ये वाक्य बोलना चाह रहे हैं तो ये क्या है कहते हैं विशिष्ट को उपदेश होना संभव नहीं है अंतकर्म विशिष्ट को तत्वसी कहना ये वाक्य उसके लिए संभव नहीं है ये तो विद्या है तो इसको क्या प्रथमसी बोलेंगे विशिष्ट विशिष्ट <clears throat> और निरुपाधिक से निरुपाधिक ब्रह्म को भी तत्वसी कहना ये बात के संगति नहीं लगने वाली है वो स्वयं विज्ञान स्वरूप है उसको क्या विज्ञान से क्या पैदा होगा वहां भी संभव है वहां नहीं करनी विशिष्ट से निरुपाधिक से जब ब्रह्म उपदेश असंभव है विशिष्ट को भी संभव नहीं निरुपाधिक ब्रह्म को उपदेश होना संभव है तत्व से आदि महाभारत के उपदेश होना संभव न होने पर भी उपाधि विशिष्ट जो उपाय विशिष्ट है जब अंतकरण विशेषण बन के आएगा तो विशिष्ट करेंगे उसको और अंतकरण उपाधि बन के आएगी तो उसको उपहित बोलेंगे ध्यान रखना है उपहित को उपदेश होगा उपदेश माने लक्ष्य लक्ष्यात्मक उपदेश हो जाएगा जो तोम पर का लक्ष्यात्म होगा उसको कहा जाएगा तत्व वाच्यात्म नहीं तोम पर का बाच्यार्थ जीव है और लक्ष्यार्थ वो शुद्ध ही होता है उस काल में उसको ही उपदेश होगा जब मतलब तीनों शरीरों से अलग किया जाएगा उपाधि को हटा करके उस काल में उसी उपदेश संगति लगेगी क्योंकि पहले हिन्नत को मान बैठा था अब कहा जाएगा तुम वही हो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं विशिष्ट से निरुपाधिक से जब ब्रह्म उपदेश असंभव थी विशिष्ट को भी उपदेश संभव नहीं तो मिथ्या है वो मैंने जिसको जीव कह रहे हैं अंतकरण विशिष्ट विशिष्ट शब्द था अंतकरण विशिष्ट उसको उपदेश होना नहीं तो उसमें मिथ्या है और निरुपाधिक ब्रह्म को उपदेश हम नहीं स्वयं विज्ञान शुरू करो और उसको जान करके फल भी नहीं होगा क्यों हम दुखी हैं और ब्रह्म को ज्ञान हो तो हम सुखी हो जाएंगे क्या नहीं ज्ञान तो अपना ही चाहिए जहां अंधेरा होगा बत्ती वहीं चलनी पड़ेगी दूसरे के घर में उजाला हो गया हमारा घर अंधेरा आए तो बत्ती थोड़ी उजाला थोड़ी तो हमारा घर अंधेरा ही है ऐसे होगा ज्ञान नहीं होना होगा जहां अज्ञान है जिस अधिकरण में अज्ञान होगा उसी अधिकरण में ज्ञान होना चाहिए ये स्थिति है न होने पर भी कहा दोनों उदय संभव न होने पर भी उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट जो होगा मनोरक्षित स्वरूप जीव होगा लक्ष्य चेतन स्वरूप जो जीव पद का लक्ष्य होगा जीव पद का लक्ष्य होगा चेतन स्वरूप होगा उसका आप जीव नहीं कहा जाएगा जैसे गंगाराम घोषा बोलेंगे तो वहां पर लक्षण आ जाएगा गंगा का संबंध है किसमें है तट में तो घोष करता तट कर देते हैं तो तट में मकान हो सकता है ठीक इसी प्रकार यहां भी जीव बाच्य होगा मानी जो शक्ति वृत्ति से जिसका आता आता है उसको बाच्य बोलते हैं जहां वृत्ति से हो उसको लक्ष्य बोलते हैं ठीक इसी प्रकार यहां भी चित्त स्वरूप जो चेतन स्वरूप जीव पद का लक्ष्य है उसको वैशिष्ट द्वारा वहां इसके जीव का वैशिष्ट है मानी इसी के वही है ना तो शुद्ध करने पर वही हुआ यही था पहले जीव था और शुद्ध करने पर ब्रह्म हो गया इसी को वैशिष्ट के माध्यम से भविष्य भी फलम फल हो जाएगा मान बोध ज्ञान का फल हो जाएगा फल क्या होगा फलम तस् आरोप बनने लगती उसमें जो आरोप था आदि धर्म का आरोप था मैं करता हूं भोगता हूं अहंकार आदि का आरोप था बुद्धियादि का आरोप और बुद्धियादि का धर्म का आरोप था उसकी निवृत्ति होना था आत्मज्ञान का फल यही होगा ये बता टिप्पणियां चार पांच की टिप्पणी चार में कहते हैं लक्ष्य से मैंने उपहित से यावत लक्ष्य का अर्थ उपहित मैंने उपाधि से युक्त को उपहित बोलते हैं वैशिष्ट द्वारा वैशिष्ट द्वारा क्या होगा लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्य की उपस्थिति होगी मैंने यहां तत्व में जो त्वम पर आया है उसका अर्थ हम त्वम से जीव को नहीं लेंगे किसको लेंगे जीव पद का जो लक्ष्यार्थ है शुद्ध क्षेत्र उसको लेंगे जीव तो होगा तुम तोमपद का सत्य शक्य है और तोमपद का लक्ष्य आप होगा शुद्ध भारतीय लक्षण बोलते हैं माने जो विरोधी अंश है उसको हटा देना अविरोधी अंश को रख लेना उसको कहते हैं भारतीय लक्षण जहां अजहर लक्षण करके नहीं आई कहते हैं हमारे यहाँ भाग त्याग जितने आया है उसमें से कुछ छोड़ त्याग देना उसको ले लेना ऐसा है क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट था अंतकर्म विशिष्ट था उपाधि विशिष्ट था उसे उपाधि को हटा देना केवल उसको देंगे तो विशिष्ट भी नहीं रहा वो लक्षित हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा यह इस तरह से आठ हजार लक्षण देखा लक्षण या लक्ष्य उपस्थित हो लक्षणावृत्ति के द्वारा जब अर्थ करेंगे माने वैसे ही अंतकरण विशिष्ट जो तोम पद का अर्थ था और शक्ति वृत्ति से ज्ञान होना था तोम पद का अर्थ अंतकरण विशिष्ट को बोध कराता है क्योंकि हम शक्ति बुद्धि से नहीं लेना चाहते लक्षण बुद्धि से लेना चाहते हैं कौम पद का जिसमें संबंध है कौम पद का जो वाच्य होता है कि कौन होता है अं-, अंतकरण विशिष्ट आत्मा उसका संबंध किसमें शुद्ध आत्मा के साथ शुद्ध आत्मा हो भी बनेगा नहीं तो संबंध है सत्य संबंध लक्षण सत्य का जहां संबंध होगा उसको कहते हैं लक्षण जैसे गंगा तट गंगा माने बहता पानी का संबंध किसमें है तट में है तो सत्य का संबंध है वहां तो अलक्षणा करते हैं गंगायाम घोषणा करते समय गंगायाम मीना बोलेंगे तो लक्षण करने की जरूरत है मीन मान मछली गंगा में बहता पानी में मछली हो सकती है तो गंगायाम नौका बोलेंगे वहां पर लक्षणा करनी पड़ेगी क्या सत्य रूप से ज्ञान हो जाएगा जब गंगायाम घोषा घोष माने घोष की झोंपड़ी पक्का मकान भी हो तो कोई घोर भी सके घोष की झोंपड़ी बहता पानी में होना संभव नहीं है इसलिए वहां श्रोता त्याग करता है उसको लक्षण विशेष साधकों पैदा करने का शक्तिवृत्ति से होने पाती सत्य का संबंध को लक्षण कहा है नहीं आएगा तो यहां पर सत्य होता है कोमपद का शक्ति विशिष्ट जो होगा सत्य कोमपद का जो वाच्य होगा वहां अंतकरण विशिष्ट वो हो गया सत्य उसका संबंध है शुद्ध के साथ तो वो उसको यहां उद्देश्य होगा ये कहना चाह रहे हैं अच्छा वैशिष्ट भाग माने लक्षण और लक्षण उपस्थित सत्य से संबंध प्रतियोगिता लक्षणा के वृत्ति के द्वारा लक्ष्य की जब उपस्थिति होती है जहां शक्ति वृत्ति से ज्ञान होना संभव नहीं है जहां पर वहां पर हम लक्षण करते हैं तो लक्षणा वृत्ति से जब जहां ज्ञान होना हो लक्ष्य की उपस्थिति हो जाने पर उस उपस्थिति में शक्य से संबंध प्रतियोगिता शक्य जो होगा संबंध का प्रतियोगी बनेगा और लक्ष्य जो होगा अनुयोगी बनेगा यश संबंध सब प्रतियोगी और यशमिन संबंध स अनुयोगी नैया कैसा है जिसका संबंध पहुंचता है उसको कहेंगे प्रतियोगी और जिसमें संबंध पहुंचता है उसको कहेंगे अनुयोगी वह तो शुद्ध होगा अनुयोगी संबंध का तो मान विशिष्ट का शुद्ध का संबंध होगा ना तो विशिष्ट हो जाएगा प्रतियोगी संबंध का और हम ये होगा अनुयोगी होगा शुद्ध ऐसा है ये प्रतियोगी रूप से द्वार द्वार द्वार है अगर ये विशिष्ट न होगा तो शुद्ध के ज्ञान नहीं हो पाता गंगा शब्द का अर्थ जो तो नहीं जानता हो तो वो कहीं गंगा किनारे मकान बोल सकेगा क्या नहीं इस तरह से संबंध हो जाएगा संबंध होने से लक्ष्यार्थ को लेकर के तत्वशी आदि महावाक्य संभव है ये कहा अच्छा तो भाष्य में कहा था न लोक अध्यारोप अपराधत्व ये जो उपदेश होता है तत्वशी आदि महावाक्य का उपदेश किस लिए शुद्ध ब्रह्म को नहीं माना किंतु उसी शुद्ध ब्रह्म में लोगों ने आरोप कर रखा है बुद्धियादि का आरोप बुद्धियादि का धर्म का आरोप कर रखा है मैं करता हूं भोगता हूं ऐसी मान्यता बना रखी है शुद्ध आत्मा उसको हटाना है उसके लिए उपदेश अरे तुम ये कर्ता भोक्ता नहीं हो तुम शुद्ध हो अपने पास शुद्ध मान बैठा है लोगों ने ऐसा कर रखा है लोग क्या है आगे टीका अर्थ करने के लोग सब क्या आता है लोगों ने शुद्ध आत्मा में आरोप कर रखा है झूठा आरोप जैसे मनुष्य में सिंह बोलेगे तो आरोप होगा मनुष्य में सिंह होता है क्या अब हाँ, आरोप है ठीक इस प्रकार का आरोप कर रखा है एक आभाषण है लोग अध्याय को अपराध ये जो तो तत्वशी आदि महाभारत के इसलिए कहना पड़ा इसलिए ज्ञान पैदा करने के लिए लोगों ने जो आरोप कर रखा है अज्ञानियों ने आत्मा ने शुद्ध आत्मा में आरोप कर रखा है मैं करता हूं भोगता हूं ये हूं सो हूं बहुत कुछ आरोप कर रखा है उस आरोप को हटाने में चरितार्थ हो जाएगा उपदेश तत्वशी आदि महाराज चिंता भाष्य में आगे बोलते हैं सर्वात्मा ही नित्य विज्ञान है सर्वात्मा जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा है माने विज्ञान कभी हो कभी ना हो ऐसा नहीं नित्य विज्ञान स्वरूप है जैसे आदित्य नित्य प्रकाश स्वरूप है वैसे वह आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप है उस आत्मा में बुद्धियादि अनित्य धर्म बुद्धि अहंकार आदि और बुद्धि आदि का धर्म जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म जितने भी धर्म हैं लोकैर अध्यारोपिता लोगों ने आरोप कर रखा ज्ञानी ने उसको आरोप कर रखा शुद्ध आरोप कर रखा मैं करता हूं भोगता हूं आगे समान हुआ है आत्मा विवेकता आत्मा के अविवेक से क्यों आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको पहचान नहीं है इसलिए आरोप कर रखे कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म आरोप है तब अपोहार हो वो कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म का निषेध करना है तुम्हारे में ये नहीं है बोलना है उसको हटाने के लिए बोलो परेशो बोधात्मा वो बोधात्मा जो ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए ज्ञान का उपदेश सार्थक हो जाए आत्मा का उपदेश ना ये जो कचरा डाला था लोगों ने उसको हटाने के लिए उपदेश सार्थक हो जाएगा ये कहा ठीक है देखिए नो लोक शब्द आत्मा उच्चते अनात्मा लाभ या शंका हो रही है कि पदार्थ दो ही है आत्मा और अनात्मा तो लोग को लोगों ने आरोप कर रखा है कहा तो लोग क्या है ये भी लोग हैं या जन सामान्य को लोग लोग बोलते वो लोग है क्या है लोग ये शंका है कोई मन लोक शब्द है ना आत्मा उच्चते अनात्मा था लोक शब्द के माध्यम से आप क्या लेना चाहते हैं आत्मा को लोक शब्द से मानना या अनात्मा को दो ही तो पदार्थ है अच्छा। नाद्य आत्मा तो हो नहीं सकता स्वयं बोल रहा पूर्वाजी आत्मा हो नहीं सकता लोक सब बता था क्यों आत्मा अधिष्ठान तो है देखो जहां आरोप करना हो वहां तीन व्यक्ति होने की जरूरत है अकेले में आरोप नहीं होगा एक अधिष्ठान होगा जहां आरोप किया जाएगा और एक आरोप का धर्म जहां से लाना होगा वो व्यक्ति भी चाहिए आरोप का धर्म जहां से लाना हो जैसे रसी में सर्पत्व का आरोप करते हैं क्या करते हैं वो धर्म सर्पत्व सर्प में रहने वाले धर्म को रसी में लाने के बाद रसी को सर्प कहा जाता है नशी सर्पत्व धर्म विशिष्ट नहीं है तद अभावी तत्प्रकार ज्ञान अयथार्थ ज्ञान नैयाण विपरीय ज्ञान इसी का नाम है तो सर्पत्व तो धर्म का अभाव जिसमें है किसमें रस्सी में उसमें हम सर्पत्व को तो देखते हैं इसलिए रज्जु को सर्प बोलते हैं यही होता है तो एक तो वो आरोप पदार्थ जहां होगा वो चाहिए व्यक्ति चाहिए सर्प न हो तो यहां सर्पत्व का आरोप नहीं कर सकते आप जो व्यक्ति हो ही नहीं कहीं ना कहीं असत्य होना चाहिए उसका आरोप होगा और एक आरोप करने वाला व्यक्ति होना चाहिए तीन व्यक्ति होना चाहिए आरोपकर्ता आरोप का अधिष्ठान और आरोप का धर्म जहां से लाना है आरोप करने के लिए तीन व्यक्ति की जरूरत है तो आत्मा अधिष्ठान रूप से चला गया आत्मा में आत्मा आरोप नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता है वो अधिष्ठान है माने रज्जु सर्प का आरोप कर दिया क्या सर्प का आरोप करने वाला कौन होगा देवदत्ता यज्ञ दत्ता आदि अन्य व्यक्ति होगा रस्सी तो सर्प का आरोप अपने नहीं करेगी तो अधिष्ठान रूप में है आत्मा आत्मा में आरोप करना है जैसे रज्जु में सर्पत्व का आरोप करते हैं लोग इसी प्रकार आत्मा में आरोप करना है तो आत्मा अधिष्ठान है इसलिए अध्यास करता नहीं बन सकता है ये पूर्वाधि कह रहा है अब अनात्मा पक्ष में जाएंगे तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है माने दो ही तो सब पदार्थ है कौन है आत्मा और अनात्मा दो ही है वो तो आत्मा तो बनने सके क्यों वो अधिष्ठान कोटि में दबा गया जहां आरोप होता है तीन व्यक्ति हुआ करते हैं अधिष्ठान करता अधिष्ठान का ये आरोप का अधिष्ठान और आरोप के पदार्थ जहां से आएगा वो आरोप पदार्थ होगा तो आत्मा वो अधिष्ठान का अध्यास कर्तृत्व असंभव आत्मा तो अधिष्ठान स्वरूप हो गया है आत्मा में अध्यास करना आरोप करना विद्या देहन होगा वो तो अध्यास कर्तृत्व असंभव है अध्यास करता अलग होता है अधिष्ठान से रस्सी में सर्प का अभ्यास करने वाला देवदत्ता यज्ञदत्ता आदि व्यक्ति अन्य होता है रस्सी अपने ऊपर में सर्प का आरोप नहीं करती कभी इसलिए चैत्र ही सुप्तिकाया रघुगम अध्यक्ष चैत्र जो है चैत्र व्यक्ति चैत्र मान व्यक्ति एक व्यक्ति है चैत्र नाम का व्यक्ति वह सुक्ति का में सिद्धि में रजत का आरोप करता है सुक्ति अपने में रजत का आरोप कभी नहीं करते अधिष्ठान है रजत का रजतत्व का आरोप करने में न सुप्तिका होगा सुप्तिका पर भी हवन आरोप करेगी नहीं वो तो आरोप का अधिष्ठान है छह नंबर आत्मा अनुमान होगा क्या पूर्वाज अनुमान दे रहा है आत्मा न अभ्यास करता अभ्यास का करता आत्मा नहीं हो सकता है क्यों अधिष्ठान वो तो अभ्यास का अधिष्ठान है आत्मा में आरोप होना है इसलिए सुक्ति का जैसे सुक्ति अधिष्ठान का कर्ता नहीं बन सकती है क्यों अधिष्ठान है ठीक इसी प्रकार आत्मा भी अधिष्ठान होने के कारण अध्यास का कर्ता नहीं बन सकता तो आरोप करने वाला कौन लोग ही अध्यारोप अध्यारोप जो धर्म लोग अध्यारोप आता तत्व लोग मैंने क्या आत्मा जी अनात्मा आत्मा तो बन नहीं पाया अब अनात्मा में चलते हैं अच्छा अध्यास कर्तृत्व आत्मान प्रादेव अध्यास कर्तृत्व भाषण अगर अध्यास कर्तृत्व आत्मा में मान लिया जाए आत्मा अध्यास करेगा तो क्या मानना होगा उस स्थिति में अध्यास के पहले ही कर्तृत्व धर्म मानना पड़ेगा जब कर्तृत्व धर्म ही नहीं होगा तो अध्यास कर नहीं पाएगा वो अध्यास करने के पहले आरोप करने के पहले उसमें कर्तृत्व सिद्ध करना होगा मान निर्विकार आत्मा में पहले से ही कर्तृत्व आ जाएगा तो फिर आत्मा कभी वित्त विज्ञान स्वरूप निर्विकार हो पाएगा नहीं हो पाएगा अध्यास कर्तृत्व अध्यास करता आत्मा को यदि मान लिया जाए पूर्वाधि बोल रहा है तो क्या होगा आत्मा प्रागेव आत्मा को प्रागेव अध्यासा प्रागेव कर्तृत्व वाचना आत्मा में कर्तृत्व धर्म पहले मानना पड़ेगा कब अध्यास के पहले आरोप के पहले मानना पड़ेगा अगर अभ्यास करने वाला व्यक्ति हो तो पहले कर्तृत्व हो कर पाएगा कर्तृत्व से प्राभाव नियम कर्तृत्व धर्म जो है प्राभाव नियम है पहले होना चाहिए हाँ, कुमार पहले होगा तो घट बनेगा कुमार ही नहीं होगा तो घर का कर्ता कैसे बनेगा पहले होना चाहिए जो कार्य होना है उसके पहले कर्ता को होना चाहिए तो कर्तृत्व यदि पहले मानेंगे तो कर्तृत्व से प्राणभाव नियमा तदा अनुपक्ष प्रसंग तो कर्तृत्व क्या होगा अभ्यास करने के पहले बैठे आत्मा में भी ऐसा मानेंगे पहले से ही है तो मोक्ष नहीं होगा हमेशा रहेगा कर्तृत्व कर्तृत्व तो सत्य हो गया ना अभ्यास के पहले यदि मानेंगे तो कर्तृत्व धर्म आत्मा का स्वधर्म हो गया जो कहीं भी सूर्य जाए उसका प्रकाश कहीं छोड़ेगा हो तो इसी प्रकार कर्तृत्व धर्म आत्मा का नित्य मानना पड़ेगा फिर मोक्ष होना ही नहीं उसको यही दोष आ जाएगा कहा एक नंबर टिप्पणी कर्तृत्व से प्रागभाव नियम पहले होना चाहिए प्राग अभाव नहीं है प्रागभाव हाँ प्रागकालीन वृत्तित्व पहले होना चाहिए उसको कर्तृत्व को तब कोई कार्य कर पाएगा कृत्रिय ही कर्तृत्व कर्तृत्व धर्म देखो कर्ता में रहने वाले धर्म को कर्तृत्व बोला जाएगा जैसे मनुष्य में रहने वाले धर्म को मनुष्यत्व बोलते हैं उसी प्रकार कर्ता में जो धर्म रहेगा वो कर्तृत्व है तो कर्तृत्व का अर्थ प्रयत्न है प्रयत्न कहाँ रहेगा कर्ता में रहेगा तो प्रयत्न जो कृति बोलते हैं प्रयत्न हो नई आयोग ने कृति शब्द बोला है उसे अर्थ किया है प्रयत्न कृति प्रयत्न तो प्रयत्न जो है ये कर्तृत्व और कृति एक ही चीज है दोनों कर्ता में रहने वाले धर्म है वो कर्ता में कर्तृत्व धर्म कर्ता में कृति कृति और कर्तृत्व समनियत है यत्र कृतित्व तत्र कर्तृत्व यत्र कर्तृत्व तत्र कृतित्व समान है इसलिए समन्वय होने से उसको एक ही माना जाएगा कृति एक एक आगे टिप्पणी का कृति रे वही कर्तृत्व कृति माने प्रयत्न प्रयत्न ही कर्तृत्व तो हो गया अच्छा साचा अभ्यास प्रति कारण हो अभ्यास के प्रति कारण है कर्तृत्व कृति तच कार्यात पूर्ववृत्ति पूर्ववृत्ति मतम विधि भाव तो कार्य तो पूर्ववृत्ति कारण अध्यास का कर्ता बनाने के लिए कृति को पहले बनना पड़ेगा और ये नियम है कि कार्य में तो पूर्ववृत्ति कारण बनेगा कारण किसको कहते हैं कार्य से अवश्य बाधी पूर्ववृत्ति जो वस्तु हो उसको कारण मानते हैं जैसे घट बनने के पहले दंड चक्र आदि कुलाल आदि मिट्टी आदि पहले होते हैं ये सब घट के कारण होते हैं ऐसा न्यायिकों ने कहा है अच्छा पहले मानना चाहिए आगे कहते हैं तरा से अनुमोक्ष प्रसन्न ये कहा उस स्थिति में क्या मानेंगे पहले मानेंगे कर्तृत्व फिर टीका जी फिर अनिर्मोक्ष होगा मुक्ति की आशा नहीं करना फिर दोनों में कहते हैं आत्मकर्तृत्व से अध्यास प्राच्युत्य आत्मा में जो कर्तृत्व धर्म अध्यास के पहले ही मानेंगे आरोप करने के पहले और पहले नहीं मानेंगे तो आरोप नहीं कर पाएगा और आरोप करने से पहले मानेंगे तो क्या होगा कि अनाध्यासिक आध्यासिक नहीं होगा कर्तृत्व तो वास्तविक हो जाएगा क्या हो जाएगा आरोपित नहीं होगा वास्तविक माना जाएगा पहले यदि हो तो कर्तृत्व धर्म वास्तविक है ऐसा मानने से अनाध्यासिकत्व अनाध्यात्व जो आध्यासिक होगा ज्ञान के द्वारा बाद उसी का होगा आरोपित सर्व का बाद होगा मुख्य सर्व का ज्ञान से बाद होगा क्या नहीं सर्व को देख लिया तो सर्व बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा जो आरोपित सर्व होगा रसी में वो ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है वास्तविक सर्व ज्ञान से बाहर होता नहीं यही हो गया आत्मकर्तृत्व से अध्यास प्राचित्व अध्यास के आरोप के पहले मैंने ये जो बुद्धियादि का धर्म का आरोप आत्मा में करना है उसके पहले ही कर्तृत्व यदि विद्यमान है आत्मा में तो आध्यासिक नहीं होगा आरोपित नहीं होगा न होने से अबाध्यत्व उसका बाद नहीं हो पाएगा ज्ञान के द्वारा चाहे अशी आदि चिंतन भी बोलते रहो और दूसरी बात ये भी है आत्मा कर्त्रादि रूप से मातांशी स्तरीय मुक्तता ऐसा कहा है मुक्तता महाकांक्षी आत्मा यदि कर्ता भोक्ता स्वरूप हो वास्तव में तो मोक्ष की इच्छा नहीं करना आत्मा कर्ताभिरूपश्चेत यदि कर्ता भोक्ता स्वरूप आत्मा हो तो महाकांक्षी स्तरी मुक्तता फिर मुक्ति की इच्छा मत करना क्यों कि नहीं स्वधर्मो व्यावर्तित और नहीं स्वभाव भावान व्यावर्तित औषध रहे ऐसा बोलते हैं अपना जो धर्म होगा अपना जो स्वरूप होगा उसको कभी भी अपने पदार्थ त्यागता नहीं है पदार्थ का जो धर्म है उसको पदार्थ कभी त्यागता नहीं है आत्मा कर्तादि रूपश्चेत मां कांक्षी स्तरी मुक्त था फिर मुक्ति की इच्छा मत करना क्यों नहीं स्वभावो भावान भावान पदार्थान स्वभावो नहीं व्यावर्ते नहीं स्वभावो भावान व्यावर्ते औष्णवर रवे जैसे सूर्य की उष्णता कहीं भी सूर्य पहुंचे उष्णता सूर्य को छोड़ेगी क्या नहीं छोड़ती उसका स्वभाव है उष्णता उष्णता के पुंज को ही सूर्य कहते हैं तो अपने स्वभाव का कोई भी वस्तु परित्याग नहीं कर सकता नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते औष्णवत रहे जैसे सूर्य की उष्णता है तो सूर्य को कभी छोड़ नहीं सकती है ठीक इसी प्रकार आत्मा यदि कर्ता रूप है तो कर्तृत्व धर्म कभी आत्मा को छोड़ने वाला नहीं है जब तक कर्तृत्व रहेगा तभी तक तो संसार ही है संसार तभी तक तो बोलेंगे तो फिर अनिर्मोक्ष प्रसंग एक आया ये श्लोक है कहीं आया था कि आत्मा उपस्थित आकांक्षी ही तरी मुक्तता नहीं स्वभाव भावाना व्यावर्ते औष्णवद रवे है रवे औष्णवद स्वभाव भावाना न व्यावर्ते ऐसा है जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव रवि का सूर्य का उष्णता स्वभाव है कहीं भी सूर्य जाए सूर्य का शीतल होगा वो कभी अपने स्वरूप का बदलेगा भारत में सूर्य गर्म होता है अमेरिका में ठंडा होता है ऐसा होता है क्या अथवा अभी सूर्य गर्म रहे कालांतर में ठंडा हो जाएगा ऐसा हो सकता है क्या किसी भी देश किसी भी काल में अपने स्वभाव का परिवर्तन कोई नहीं था अपने स्वभाव वस्तु में रहता ही है तो अगर कर्तृत्व धर्म विशिष्ट यदि आत्मा माना जाए तो फिर मोक्ष की इच्छा नहीं था ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही बंधन है ये संसार है ये भी अभ्यास करने के पहले कर्तृत्व है वो नित्य हो जाएगा वो अभ्यास के ऊपर आएगा नहीं वो ऐसा होने को रोक नहीं होगा ये पूर्वास ने कहा ये कह रहे हैं आत्मकर्तृत्व से अध्यास प्राप्त अनाध्यासिकत्व अबाध्यत्व कर्तृत्व के बाद नहीं होगा अनाध्यासिक होने से मूलाध्यास से अवश्य आत्मा ये तमूल अभ्यास है वो कर्तृत्व मूलक अभ्यास बना ही रहेगा उसको जब तक कर्तृत्व रहेगा अभ्यास करता ही रहेगा आरोप करता ही रहेगा इसलिए कहा आगे ठीक है देखिए भारत का अवस्थान आगे बोलते हैं अच्छा आगे कर्तृत्व से अभ्यास कर्तृत्व का यह अभ्यास मानोगे तो पूर्वादि बोल रहा मैंने आत्मा करता हो सकता है कि नहीं हो सकता एवं अभ्यास करने वाला कौन आत्मा है कि अनात्मा जो कोटि पूछा उसमें से आत्मा में होना संभव नहीं बता रहा है इसी के टीका है कर्तृत्व से अभ्यास कर्तृत्व को अभ्यास मानोगे आरोप मानोगे चलो न कर्तृत्व आत्मा आत्मा में कर्तृत्व नहीं होगा न कर्तृत्व आत्मा आत्मा में कर्तृत्व नहीं होगा तब विषय कर्तृत्व अभाव तो तो आप विषय कर्तृत्व अन्य कर्ता विषय कर्ता नहीं रहेगा देखा टिप्पणी देखिए तीन नंबर में आत्मा ही कृति असा कृत्य अध्यास अनुकूल कृत्यंतर असंभव आत्मा में एक कर्तृत्व का अध्यास करने वाला दूसरा कर्तृत्व नहीं होगा आत्मा में कर्तृत्व का अभ्यास करेंगे तो किसे करेंगे तो आत्मा स्वयं कर्ता बन के नहीं कर पाएगा दूसरे कर्ता कोई है ही नहीं अभ्यास कर ही नहीं पाएगा ये भी है यह उत्तर दिया उसने ये पूर्वाग है भागवत अवस्था कर्तृत्व हो तो कर्तृत्व चलता रहेगा अवस्था तो आ जाएगा ये कहा न टीका में बोलते हैं पूर्वाग बोलता दूसरा पक्ष भी ये बनेगा क्या है लोक शब्द का था अनात्मा ही पदार्थ है आत्मा बनने पाया तो अनात्मा लेंगे तो क्यों आप जड़ का भी अभ्यास करेगा नहीं सुक्ति में रजत का आरोप करने वाला कोई चेतन होता है नदी घट सुक्ति में अभ्यास कर दे रजत का जड़ पदार्थ कोई अभ्यास करता थोड़ी बनेगा नहीं एक जड़ वह अनात्म अभ्यास का कर्तृत्व होते जो अनात्म पदार्थ है अभ्यास का कर्ता हो नहीं सकता अध्यास कर्तृत्व धर्म उसमें अनात्मा में होना संभव नहीं तो जड़ है वो पांच नंबर की टिप्पणी चार भी है चार अच्छा चार कृति विषय कृति दोषण घोषणा कृति विषय कृति मान्य कर्म माने कर्तृत्व के लिए दूसरा कर्तृत्व धर्म मानने पर तो कर्ता के लिए कर्ता मानेंगे तो दोष था यदि कर्ता के लिए दूसरा कर्ता मानेंगे तो अवस्थान होगा अनवस्था दोष में चले जाओगे एक आत्मा का जड़त्वा अनात्मा अनाध्याश्रय जड़त्वा घटाधिपति भाव अनात्मा पक्ष बनाना जो अनात्मा है क्या है वो अनाध्याश्रय अध्यास का आश्रय नहीं होता न अध्यास आश्रय अनाध्याश्रय अनाध्याश्रय तो होगा साध्य अनात्मा होगा पक्ष हाँ। माने जो अनात्मा है ये पक्ष है आप अनुमान दिया अनात्मा अनाध्याश्रय अध्यास का आश्रय नहीं हो सकता क्यों जड़ को जड़ होने से जैसे घटा जैसे घटा घट है पट है मठ है जो भी हो वो क्या है वो अध्यास का आश्रय जो होता है जड़ है यत्र यत्र तुम तत्र तक अध्यास अनाश्रय हो अध्यास का आश्रय नहीं पड़ता हो जैसे घटा भी है ये कहा आगे टीका में चेतनो ही देवदत्त हो देवदत्त हो अध्यक्ष प्रसिद्ध लोग भी प्रसिद्ध है जो चेतन देवदत्त है वो अभ्यास करता है हाँ, माने शुक्ति के टुकड़े में चांदी का अभ्यास करने वाला कौन होता है चेतन देवदत्ता भी व्यक्ति होता है ना कि घर सुक्ति में चांदी का अभ्यास कर दे नहीं हो सकता चेत और देवता तो चेतन जो देवता है अध्यक्षति प्रसिद्धम को अभ्यास करता है रज्जु में सर्व का अभ्यास करता है शुक्ति में चांदी का अभ्यास करता है आरोप करता है ये चेतन ही अत्र प्रसिद्धि में गुरुवारी प्रसिद्धि दिखाता है लोग प्रसिद्धि दिखाता है क्या दिखाया तो चेतन व्यक्ति आरोप करता है तो जड़ पदार्थ करेगा उनका आत्मा बन नहीं पाया पहले कैसे खंडन हो चुका है अनात्मा भी बन नहीं पाया फिर ये लोग ही अध्यारोपिता जो लोग अपोहार कहा था आपने लोगों ने जो आरोप किया उसको हटाने के लिए तत्वसी आदि महाभारत के जन्म ज्ञान सफल होगा बोलना चाह रहे हैं कहां से सफल होगा किस कौन बनेगा यहाँ आरोप करने वाला आत्मा नहीं बन पाया अनात्मा भी नहीं बन पाया तो पूर्वादी की चिंता है अच्छा आगे सिद्धांत की एक देशी जब पूर्वादी को चिड़ाने के लिए बोले अथा मैंने ननु नन अर्थ अथा है सिद्धांत के देशी बोले यदि ऐसा बोलोगे तो नहीं हो सकता प्रभावी बोलेगा अथा जड़ से अध्यास कर्तृत्व नाम जड़ में अध्यास करता जड़ होता है ये सिद्धांत देशी बोलेगा क्या है वो अध्यास कर्तृत्व है भ्रांति आश्रय भ्रांति का आश्रय तो बनी जाता है जब मैंने सुखी जो है ना रजत भ्रम का आश्रय तो बनी जाता है कर्ता बने न बने तो जड़ पदार्थ को मानने के बाद आश्रय होने से कर्ता मान लेना उसको ऐसा बोला जाए तो कहेगा नहीं हो सकता पूर्वादी वगैरह नहीं हो सकता यही अतः जड़ से अभ्यास कर्तृत्व नाम जड़ में जो अभ्यास कर्तृत्व मान लीजिए जड़ पदार्थ अभ्यास करेगा तो क्या मानना उसका नाम भ्रांति आश्रय तो भ्रांति का आश्रय बनना जैसे रज्जु भ्रांति का आश्रय तो हो जाती है ना सर्वभ्रांति का आश्रय रज्जु है यही है अभ्यास कर्तृत्व जड़ पदार्थ में यद्यपि नशा भगवती भ्रांति का आश्रय तो नहीं होगा एक देशी बोलेगा भ्रांति का आश्रय नहीं हो सकता किंतु तथा भी भ्रांति निमित्तत्व दृष्टा भ्रांति का निमित्तत्व तो देखा ही करता भ्रांति का निमित्त देखा कहां देखा जपा कुसुम ने देखा रक्त पुष्प जपा पुष्प जपा जपा बोलते हैं रक्त पुष्प है उसके पास में यदि स्फटिक हो तो स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है जपा कुसुम के सामने में स्फटिक लाल दिखाई पड़ता है तो जो सचिव को जो रक्तिमा मानना भ्रांति है कि अपना भ्रांत है कि अभ्रांत है सफेद होता है स्थित उसको लाल मानना रक्त स्फटिका बोलना भ्रांति है तो भ्रांति है उसका निमित्त क्या है जपा पुष्प है पास में सान्निध्य में रक्त पुष्प था उसको यहां दिखने लग गया तो ये तो दिखाई पड़ता है भ्रांति का निमित्त हो सकता है भ्रांति का आश्रय तो नहीं हो सकता किंतु भ्रांति का निमित्त जड़ पदार्थ होता है हो सकता है जैसे आप कुसुम हो गया ऐसे सिद्धांत एक देश ऐसा पूर्वाधिक बोले मैंने एक कर्तृत्व आरोप करता जड़ हो जाएगा कहने लग जाए वो बोलेगा हो बोलेगा सात उम्र की टिप्पणी दूसरा की कथा कहते हैं पूर्वाधिक दोष देगा सिद्धांत शंका अंत दूसरा ही देगा माने सिद्धांत के एक देशी की शंका को अनुवाद करके स्वयं दूषण करता है ये होने सकता है मौन करके पूर्वाजी बोलता है टीका मौन तस्य सत्य से उपाधि तो संभव तो जो जपा का समय व्यावहारिक काल में सत्य है वो सत्य है सत्य तो उपाधि हो जाती है सत्य पदार्थ उपाधि हो जाता है किंतु यहां तो आरोप करना है तो आरोप में क्या उपाधि बनना ये कह रहे हैं न तस्य तस्य सत्य से उपाधि तो संभव माने हाँ, न तो पहले के साथ खत्म हो जाएगा ऐसे बोलना ठीक नहीं जब आप उस को निमित्त लेकर के जब पदार्थ ये भ्रांति आरोप का करता होता है मानना संभव नहीं निमित्त को लेकर संभव नहीं क्यों तस्य सत्य से उपाधि समझ तस् माने जपा कुष्म से जो जपा कुष्म तो सत्य है व्यावाहिक पदार्थ है वो सत्य है तो उपाधि हो सकती हो सकता है किंतु स्वभाव और भाष्यकार मत है भाष्यकार में ईशावा ईशावास सर में कहा करके बोलेंगे जड़ से सर्वस्व अध्यासात्मकत्वा भाष्यकार के मन में जड़ पदार्थ जितने भी सब आरोपित है सत्य कोई है ही नहीं सत्य तो उपाधि हो सकता हमारे मत में तो हो सकता है क्यों हम तो जगत को सत्य मानने वाले हैं और आप जगत को झूठे मानने वाले हो आपके भाष्यकार ने कहा है संपूर्ण जगत आरोपित माना है अध्यासात्मक आरोप स्वरूप माना है भाष्यकार के मत में अध्यास तो न संभवती आपके मत से अध्यास का कारण जड़ पदार्थ हो नहीं सकता क्यों संपूर्ण जगत को आरोप माना है तो आरोप क्या आरोप करेगा ने ये कहा तस्मात असंबद्ध भाष्यम ये जो भाष्य भाष्यकार ने बोला जो कहा क्या कहा लोग का अध्याय का पौरातत्व असंबद्ध है ये पागल की तरह का भाष्य है जैसे पागल बोलता है मरगल बात है ऐसा पूर्वाधिक का यदि यहां तक पूर्व पक्ष हुआ अरे सिद्धांति भाष्य चाहिए सिद्धांति का व्याख्या चाहिए है टिप्पणी आठ नौ दस है ना आत्म का भाष्यकार मत उत्तम ही ईशावास्य मंत्र भाष्य ईशावास्य मंत्र की व्याख्या करते हैं भाष्यकार ने कहा क्या कहा स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविकम कर्तृत्व भोक्तृत्व विलक्षण जगत द्वैत रूपम इत्यादि कहा अपने में जो कल्पित है आरोपित है आत्मा में आरोपित स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूप स्वाभाविक अशास्त्रीय स्वाभाविक होने वाले जो सिखाना पड़ेगा लक्षण जगत द्वैतरों में जगत द्वैत ये ये भाष्यकार ने कहा है सबको कल्पित माना भाष्यकार ने तो ये सत्य पदार्थ आपके मन का तो है नहीं कैसे आप उसको निमित्त मानो जो आरोप का नौ नंबर का संभव थी तो हो नहीं सकता है आपके मत में कोई पदार्थ अध्यास करने वाला हो नहीं सकता अनात्मा भी नहीं क्यों जड़म ना अध्यास में जड़ पदार्थ अध्यास में वित्तन अनुमान दे रहा है तो जड़ जड़पराध अध्यास का निमित्त निर्देश है क्यों मिथ्यात्मा स्व मिथ्या है क्या तो अध्यास का निमित्त विग्रह का व्यतिरेका कुछ हो यदि व्यतिरेकात्मा यत्र यत्र अध्यास अध्यास निमित्त अध्यास निमित्त अभाव का अभाव माने अध्यास निमित्त है जहां जहां तो वहां वहां मिथ्यात्म अभाव है जैसे जपा कुछ सत्य है गुरुवारी के पक्ष सत्य है ऐसा की दृष्टांत है तस्मात दस नंबर की टिप्पणी निमित्ता भाव है ना अभ्यास असंभव निमित्त कोई मिला नहीं आपके मत में आत्मा तो हो नहीं पाया और अनात्मा भी नहीं सबके सब आरोपित है तो आरोपित वस्तु आरोप नहीं कर सकता इसलिए निमित्ता भाव है ना अभ्यास असंभव जब निमित्त नहीं मिला तो अभ्यास हो नहीं सकता इसलिए ये भाष्य जो है अमरगढ़ भाष्य है जो लोग अध्यारोप अपवाद तत्वाद भाषिकार बोला ये असंगत प्रलाप है ऐसा कहा हो गए टिप्पणी अच्छा आगे भाष्य बताते सिद्धांत करते हैं लोक शब्द है ना अहंकार आधार उपचार यहाँ लोक शब्द अर्थात न चेतन है न जड़ है दोनों के बीच में मिलावट वाले जो है उसको लोक शब्द से लिया जाएगा यह आरोप करेंगे आत्मा अहंकार आदि जो है यह आरोप करेंगे आत्मा एक टिप्पणी देखे पड़ेंगे ग्यारह की टिप्पणी आत्मा अनात्मा धर्म में अहंकार आदि जो है ना यह आत्मा और अनात्मा कालात्म वाले हैं घट को जड़ मान लेता है ठीक है आत्मा को चेतन मान लेगा किंतु ये ये जो जो शरीर आदि है इसमें जड़ चेतन मिला हुआ है दोनों ऐसा है यही टिप्पणी कार कह रहे हैं आत्मा अनात्मा के रूप रहा आत्मा और अनात्मा की गांठ बना हुआ है एकता और रखी है अहंकार आदि अहंकार से लेकर देहा तक है पूरा तब उभय विलक्षण कार्यक्रम संघात एवं लोक संघात इसलिए आत्मा और अनात्मा दोनों से विलक्षण पूर्वाजी ने पूछा था ना कि आत्मा है या अनात्मा है लोग शब्द का क्या है दो ही पदार्थ है क्या आता कहते वो दोनों से विलक्षण एक पदार्थ है कौन है अहंकार ये सिद्धांत का कहना है तब वही विलक्षण आत्मा और अनात्मा दोनों से विलक्षण कार्यक्रम संघात है जो कार्यक्रम संघात पुंज है ये शरीर है यही लोक एवं लोक इतिहास है लोक संग्रात यही है ये आरोप करने वाला का संवाद है इसको न जड़ माना जाता है न चेतन माना जाता है जड़ चेतन वह विलक्षण है चेतन तो आत्मा ही कहा जाता है तो जड़ घटादि को कहा जाता है इसको घट जैसा भी नहीं माना जाता चेतन जैसा भी नहीं माना जाता ये तीसरे ये तीसरे कठिन है ये यही होता है तो हाँ, यही तो आरोप करने वाला यही है शुद्ध आत्मा में कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म का आरोप करने वाला यही है ये बोल रहे हैं लोक संवेद इत्यादि कहा तो भाष्य का कहा टीका कहा लोक का अहंकार आदय उच्चंदे कहा लोक शब्द के द्वारा अहंकार आदि को अहंकार से लेकर देह तक जो आत्मा और अनात्मा ग्रंथि बनी हुई है इसी को लिया जाता कहा जाता है ये शाम व्यावहार सत्य अतिक्रिया समर्थ समर्थत्व अभिभाव इनमें व्यावहारिक सत्यत्व माना हुआ है किस अहंकार से लेकर देह तक ये परमात्मा को व्यावहारिक सत्य तो पारमार्थिक सत्य तो नहीं है व्यावहारिक सत्य तो स्वीकार किया है ये सिद्धांत बोलते हैं क्योंकि वेदांत पतन में तीन पदार्थ है पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक तो इनको व्यावहारिक सत्य माना हुआ है ये कहा अच्छा व्यावहारिक सत्य तो आगे कहा बारहवीं में तत्र चित्तागात में बताम अहंकारा विनाम चिति आदि आरोप उत्पादित होने वाला एक कहना चाहते हैं उस स्थिति में चित्त तारात्म बताम अहंकारा विना चेतन की तारात्म जिससे प्राप्त हुआ ऐसा अहंकारा नहीं है उनको उस स्थिति में क्या मानते हैं चित्त बताओ बताम अहंकारादि चेतन की तारात्म प्राप्त किए हुए जो अहंकारादि हैं एकता प्राप्त किए अहंकार चिटी उस अहंकारादि का चेत चेतन में एक क्षिति वन में क्या करेंगे आदि को कर्तृत्वादी आरोप प्रति चेतन में कर्तृत्वादि का आरोप करने के प्रति उपाधि तो मेरे ये उपाधि हो जाएंगे कौन अहंकार आदि उपाधि हो जाएंगे चेतन में शुद्ध चेतन में कर्तृत्वादि का आरोप कर ये कहा टीका धारा तेसाम व्यावहारिक सत्यत्व से व्यावहारिक सत्यत्व माना क्यों अर्थक्रिया समर्थक अर्थक्रिया समर्थ है ये हाँ, इसलिए व्यावहारिक सत्य माना जैसे जल जिसको हम समझते हैं तो पीने पर प्यास बुझता है उसकी जो गुण शीतलता वहां मिल जाता है तो अर्थक्रिया समर्थ है वो तो ये व्यावहारिक सत्य तो माना इन पदार्थों को एक अच्छा अभी बताओ स्वधर्म आरोप भी न उपाधि तो संभव अपने धर्म का आरोप करते हैं अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व किसका धर्म है अहंकार आदि का धर्म है और आरोप करेंगे कहा शुद्ध आत्मा है स्वधर्म अपना धर्म अहंकार आदि अपने धर्म को दूसरे में डाल देते हैं किसने वहां दिखाते हैं उपाधि हो जाते हैं जो अपने धर्म को अन्यत्र डाल दे दिखा दे उसको कहेंगे उपाधि जैसे अंतकर्म उपाधि हो जाता है किसके लिए अंतकर्म विशिष्ट जो चेतन है अंतकरण के कर्तृत्व आदि का आरोप उसमें हो जाता है जैसे जल में वायु के कंपन से जल हिलता है जब तो जलस्त जो चंद्र है प्रतिबंध वो भी हिलता सा लग जाता है अब चलना चंद्रमा का काम नहीं था वहां जल का काम था किंतु वो उपाधि ने क्या किया अपने धर्म को दूसरे दिखा जब बादल दौड़ता है रात्रि में देखा होगा चांदनी रात में चंद्रमा दौड़ता दिखाई पड़ता है वो बादल क्या करता है अपनी जो गति है वो चंद्रमा में डाल देता है चंद्रमा के दौड़ने के लिए क्रिया के लिए बादल वहां उपाधि है ठीक इस प्रकार अहंकार का भी उपाधि हो जाते हैं होगा स्वर्ण आरोपण के अपने धर्म का आरोप करने के लिए निमित्त नहीं निमित्त उपाधि को संभव उपाधि धर्म जो अपने धर्म को दूसरे धर्म दिखाने वाला हो आरोप करना उसको कहेंगे उपाधि तो अहंकार आदि उपाधि हो जाएंगे संभव परमार्थ सत्य से उपाधित्व यदि असमान प्रति दृष्टान हाँ, बोलोगे की परमार्थ सत्य ही उपाधि होगी ऐसा मानोगे हमारे लिए नहीं बोल सकते हम माने वेदांति के लिए नहीं बोल सकते क्यों हमारे दृष्टांत में हमारे यहाँ परमात्म सत्य देख आत्मा यह बाकी कोई परमात्म सत्य आई नहीं व्यावहारिक सत्य को देकर के उपाधि बन जाएंगे अहंकार आदि परमार्थ सत्य ही उपाधि हो ऐसा मानोगे तो हमारे यहाँ तो दृष्टांत नहीं मिलेगा हमारे यहाँ परमार्थ सत्य देती आत्मा अगर कोई है एक दृष्टांत आवाज अहंकार आदि और अहंकार आदि क्या कहते हैं चित्त तंत्र अनाज अनिर्वाच्य अविद्या और भूत सूक्ष्म विकार कहते ये जो अहंकार आदि है क्या चीज जो आत्मा में कर्तृत्व आदि धर्म को डालने के लिए उपाधि बन रहे वो है क्या चीज कहते चेतन के अधीन जो अनादि अनिवाच्य अज्ञान है अविद्या है अविद्या मय जो भूत सूक्ष्म है हाँ सूक्ष्म भूत विकार सूक्ष्म भूत का विकार रूप विकार है ये अहंकार आदि माने पंचीकृत भूत वाले नहीं है अपंचीकृत भूत के समय के हैं ये कहा अविद्यावच्छिन्न वो चैतन्य नहीं बदलती वो अविद्यावच्छिन्न चेतन में ही वो जाकर के आश्रय लेते हैं अहंकारा भी वही पढ़े जाते हैं ये कहा टिप्पणियां अहंकार वाले चौदह पंद्रह तेरह चौदह तेरह में कहा अहंकार आदि तारात्मक तो अविद्यावच्छिन्न चैतन्य से तो आश्रय तो आश्रय अहंकारादेश का अहंकारादि तादात्मान जो अविद्यावच्छिन्न चैतन्य होगा वह आश्रय होगा माने उपाधि के धर्म दूसरी स्थिति में होगी और आश्रय बनेगा दूसरा बनेगा जैसे बादल का धर्म है गति बादल में है किंतु दिखा आश्रय होगा चंद्रमा में दिखाई पड़ता है उत्पन्न कहीं अमित्र है दिखता कौन अमित्र है यहां भी ऐसी स्थिति है ये बता चौदह का चित्तंद्र इत्यादि इसमें विशेष रूप से बताते हैं किसके आरोप कर में कौन उपाधि बनना है किसने उपाधि बनना है या तीन कोटि करके समझाएंगे आप टिप्पणी कूटस्थ चैतन्य कर्तृत्व के अध्यासन प्रति जो निर्विकार चेतन है कूटस्थ चेतन है उसमें कर्तृत्वादि का आरोप करते समय प्रति कौन बनेगा अहंकारादि उपाधि अहंकारादि उपाधि हो जाए शुद्ध चेतन में कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म के आरोप करते करते समय में उपाधि कौन होगा अहंकार उपाधि और अहंकारादि अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य आश्रय और आश्रय कौन बनेगा किसमें दिखना है अविद्या अवच्छिन्न जो आदि अवच्छिन्न चेतन है अविद्या अवच्छिन्न चेतन है वो होगा आश्रय और आदि आरोप तो, और अहंकार का आरोप कर रहा है वो भी आरोप होगा आत्मा में अहम अहम होता है उस काल में कौन बनेगा उपाधि कहते अविद्या उपाधि उपाधि अविद्या अविद्या ही उपाधि होगी अहंकार आदि का आरोप है कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप के समान में तो अहंकार उपाधि है और अहंकार का जब आरोप करेंगे आत्मा में वहां अविद्या उपाधि है उपाधि सर्वत्र अधिष्ठान अवच्छिन्नम चार अविद्या भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि अविद्यावच्छिन्नास्तया तो ये अविद्या तो हो जाएगी उपाधि और भूत सूक्ष्म द्वारा उपाधि हो गई और अविद्यावच्छिन्न जो चेतन होगा आश्रय बन स्वारोप और अविद्या का भी तो आरोप होगा अविद्या भी सत्य नहीं है वो भी आरोपित है आत्मा में माने जो अज्ञान भी सत्य नहीं है वो भी आरोपित है आरोपित है तो आत्मज्ञान से भाग निवृत्ति होगी और सत्य वस्तु हो तो ज्ञान से थोड़ी नष्ट होगा सत्य संपर्क का ज्ञान होगा तो सत्य थोड़ी मरेगा नहीं मरता आरोपित पदार्थ ही क्या तो अधिवृत्ति होता है वो मरना भी नहीं कहा जाता है वस्तु है नहीं क्या मरना उसमें रज्जु में सर्प है नहीं तो भागता भी नहीं मरता भी नहीं केवल बुद्धि निवृत्ति हो जाती है सर्व बुद्धि की निवृत्ति होनी मरना भी नहीं उसका नाश भी नहीं नाश करना भी नहीं बनता उसका वस्तु नहीं क्या नाश होना है यह स्वारोग्य को अविद्या के आरोप है अविद्या स्वयं हेतु स्वयं हेतु है उपाधि स्वयं है जो अविद्या में ऐसी शक्ति है अगति तक अतना ऐसी ऐसा करके सोना हुआ है विवेक चूड़ामण ने अविद्या का अर्थ किया है माया का लक्षण दिया शंकराचार्य ने कहा है अव्यक्त नामी परमेश शक्ति रणांत विद्या पिता परा कार्यानुदया सुदीव माया यया जगत सर्वविधम प्रसूयते ये माया का लक्षण है क्या है अव्यक्त जिसका नाम है अव्यक्त नामी परमेश शक्ति परमेश परमात्मा की शक्ति है और पराशक्ति आगे पराशब्द है पराशक्ति है की शक्ति है पराशक्ति है अव्यक्त नामी परमेश शक्ति ही अनादि अविद्या अनादिकाल से है वो और अविद्या जिसको बोलते हैं अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका तीन गुण स्वरूप है रघुगुण सतगुण तमगुण स्वरूप है कार्यान्वय अन्वय पदार्थ है प्रत्यक्ष नहीं होता जब कार्य घटना घट जाए तब उसका ख्याल आएगा कार्य के द्वारा अन्वय है कभी अविद्या प्रत्यक्ष नहीं होती कार्य के माध्यम से धूम के माध्यम से अग्नि का ज्ञान होता है दूरदेश में होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता अन्य प्रत्यक्ष में फिर ज्ञान होता है अनुमान से होता है अनुमेय पदार्थ कार्य कार्यानुमेय सुधे माया कार्य से जानते हैं कौन लोग सुधी लोग ज्ञानी लोग विवेकी लोग समझ पाते हैं सब लोग नहीं जानते सुधिया एवं माया माने सुधी अच्छी बुद्धि वाले जो लोग हैं वही लोग जान सकते हैं उसको हनुमान के द्वारा ऐसी शक्ति है ये जगत सर्वम पशु जिसके द्वारा ये सारा संसार की उत्पत्ति होती है ऐसा और आगे से लोगों का सम्मा भी विभया प्रदान हो भिन्ना विभिन्ना विभया प्रदान हो वो सत है कि असत है और उभय रूप में न सत है न असत है न उभय रूप है और न परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है दोनों का नहीं सकते उभय रूपी में भिन्ना भिन्न रूपी नहीं है वो संगा भी नंगा वो माने अवयव है कि निर्वय है सावय है कि निर्वय ये भी बोल नहीं सकते ऐसी स्थिति सांगा गंगा आपको भयात्मका वो महाभूता वचन ये माया महान अद्भुत है सत्य का भी है माया और कहा शुद्धाद्वय और ब्रह्म विरोध नाश उसका नाश हो जाता है किसे शुद्ध अद्वैत ब्रह्म की ज्ञान से नाश होता है शुद्धाद्वय ब्रह्म विरोध नाश्य सर्प रज्जु विवेक तो यथा जैसे सर्प का भ्रम हो गया था रज्जु का ज्ञान होगा तो नाश हो जाएगा ठीक इसी प्रकार ये अज्ञान का भी नाश होगा तब अपना विवेक होगा अपना ज्ञान जब होगा तो माया का नाश होगा शुद्धालय ब्रह्म विबोध नाश्या सर्प रज्जु सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा रजस्तमा शब्द इति प्रसिद्धा गुणास्तरीय प्रतिभा है उसके तीन गुण हैं अपने कार्यों के द्वारा प्रथित है लोग में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं जब गुण हमारे पास सवार होगा उस काल में कुछ भजन पाठ करने की इच्छा होती है रजगुण सवार होने लग जाएगा कहते हैं कुत्ता भी कुछ काम का कुछ हिला के बैठता हमें भी मनुष्य है कुछ करना चाहिए प्रवृत्ति में लगा देता है रजगुण सवार होते समय और प्रमुगुण सवार होगा तो सब छोड़ के सोने की इच्छा हो जाती है आलस में पड़ जाएगा जाने को सब तो ये प्रतिदिन का अनुभव है तो ये कार्य के द्वारा उसके गुण तीन गुण ऐसे हैं कहा तो अविद्या ऐसी होती है मैंने जब स्वारोप हेतु का अपने जब आरोप करना अविद्या का आरोप जब परमात्मा में आरोपित पदार्थ है यदि वो करने का तो स्वयं हेतु यदि शिवचैतन स्वयं हेतु आदि मान उपाधि भी वही है और भ्रांति के आरोप का आश्रय भी वही है ऐसी स्थिति हो जाती है इसे सूचना देने के लिए अनादि अनिर्वाच्य तो इसलिए यहां का अनादि अनिर्वाच्य टीका में कहा था आश्रय तो भ्रांति अविद्या आश्रय होगा भ्रांति का आश्रय कौन होगा अविद्यावच्छन चेतन ही होगा उसी में आरोप करना है मान पैदा है और जगह है और दिखना तो का और जगह है आश्रय और लग है एक उपहितम में तो सर्वत्र अधिष्ठान अवच्छिन्न उपहित जो होगा सर्वत्र अधिष्ठान अवच्छिन्न चेतन जो होगा वो उपहित होगा हाँ। उपहितम में तो सर्वत्र अधिष्ठान अभी अधिष्ठान जो होगा उपहित होगा उपाधि विशिष्ट ही होगा हमेशा और अविच्छिन्न करता होगा अविद्या अविच्छिन्न इसलिए एवं अधिष्ठान कर्तव्य दे रहा अधिष्ठान और कर्ता दो अलग अलग हो गए करने वाला अलग और अधिष्ठान अलग हो जाता है इसलिए उत्तम यह उत्तम जो कहा माध्य हाँ, पहला वाला हो नहीं सकता जो पूर्वाज ने कहा था आत्मा नहीं हो सकता अभ्यास करता और इत्यादि इत्यादि मैंने न द्वितीय भी बोला था अनात्मा भी नहीं हो सकता इत्यादि सर्वम अनवकाशन दोनों के दोनों पक्ष बनेगा ही नहीं लोक शब्द के द्वारा आत्मा लिया जाएगा अनात्मा लिया जाएगा बोला दोनों नहीं तीसरे कोटि लोक शब्द से अहंकार आदि को लिया जाएगा जिसको आत्मा अनात्मा की ग्रंथि बोलते हैं कहा अच्छा अहंकारादि अवचिन्न से घटाधिगत जड़त्वाभाव न है और अहंकार विशिष्ट जो चेतन है वह घटाधि के समान जड़ भी नहीं है ये तो ग्रंथि रूप है ना इसके अहंकारादि अवचिन्न से चेतन से जो अहंकारादि विशिष्ट चेतन है वो हटा जड़त्वाभाव जड़ जड़ भी नहीं इसी नर भी किया इसलिए वो दूसरा नहीं कहना भी नहीं बनता मैंने यहाँ जितने भी आत्मा में आरोप करने वाले आदि हैं अपने धर्म का आरोप करने के लिए आदि है कहा इत्यादि उत्तम और निरस्त ये भी निरस्त हो गया कहा आगे टीका चैतन्य ने प्रथम ऊपर में कहा पंद्रह नंबर टिप्पणी चैतन्य आश्रय धर्म इधर उनके अधिष्ठान इधर है और आश्रय लेते हैं चेतन मैंने पैदा होकर बैठ जाए कहा अहंकार आदि में कर्तृत्व भोक्तृत्व और देहाई पड़ते हैं चेतन यही है जैसे सर्पक तो धर्म सर्प का धर्म है बाहर आने वाला धर्म दिखाई पड़ेगा रशि में तभी तो रशि को सर्व मानेंगे आप ऐसा है अच्छा ठीक है देखिए उपाधि विचाराम उपहित पक्षकारिता आया दर्शना कहते उपा उपाधि का जो विकार होते हैं वह उपहित में दिखाई पड़े उपाधि विकार नाम जितने भी उपाधि के विकार हैं या उपाधि हैं आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व का आरोप में उपाधि का अहंकार आदि उसके विकार क्या है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वो उपहित में दिखाई पड़ते हैं इसमें एक दृष्टांत बनता है उपाधि विकार नाम उपहित पक्षपात का आया उपहित में दिखाई पड़ते हैं धर्म किसी का दिखाई पड़ेगा दूसरे जैसे बादल का धर्म जो गति है गति चलन वो दिखाई पड़ता है किसी चंद्रमा में यही होता है तो यहां भी उपहित में दिखाई पड़ने में पक्ष दर्शनात्मक दिखाई पड़ा कैसे यथा जल कलनादिनाम तस्मात भाषण भाषण जैसे जल के चलन होता है जल जल के चलन से चंद्रमा में चलन दिखाई पड़ता है प्रतिबिंब जो तो चंद्रमा के प्रतिबिंब जल में पड़ा हुआ है जल जब हिलता है वायु के चौकों से तो चंद्रमा हिलता लगता है जल हिलता प्रतीत तो नहीं होता प्रतीत होगा चंद्रमा हिल रहा है बादल दौड़ता है दौड़ने वाला बादल होता है जब हम समझते हैं चंद्रमा दौड़ रहा है रात में उल्टा बादल इधर उधर जा रहा होगा हमको चंद्रमा इधर से इधर जा रहा दिखता उल्टा उल्टी गति दिखाई पड़ती है उपाधि के धर्मों का उपहित में दिखाई पड़ता है इस प्रकार अहंकार के धर्म अहंकार आदि के धर्म तो क्या थे कर्तृत्व भक्तृत्व आदि संसार धर्म और कहा दिखना संभव है आत्मा निर्गुण निराकार आत्मा में दिखना संभव है ये बताए आगे टीका में कहा पूर्वादि कहता है नम बोधात्मनो न अबोध समंजस बोधात्मा में अबोध होना संपत्ति में फिर ज्ञान की आवश्यकता क्या हो जो बोधात्मा है ज्ञान स्वरूप है उसमें कभी अज्ञान संभव है क्या जब अज्ञान संबंधी नहीं है तो फिर ज्ञान किस काम में आएगा तत्वशी आदि वाक्य जन्य ज्ञान किस काम में आएगा वो तो ज्ञान स्वरूप है सूर्य में कभी अंधेरा होगा क्या होगा ही तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है तो ज्ञान की आवश्यकता क्यों ये पूर्वाद तो की एक शंका है मनो बोरा मनो बोध स्वरूप है आत्मा ज्ञान स्वरूप है आपका आत्मा बोरात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा का न अबोध संबंध उस आत्मा में अबोध मान अज्ञान होना संभव नहीं निर्विकार वो तो निर्विकार है अज्ञान होगा तो विकृति हो जाए विकार आ जाएगा निर्विकार है आत्मा और ज्ञान स्वरूप है उसको अज्ञान होना संभव ही नहीं है फिर उस अज्ञान को हटाने के लिए तत्वशी आदि महापाप की क्या आवश्यकता क्या पड़ी यहाँ आपको तो पूर्वादी की शंका है न बोधा करो न अबोधा है अज्ञान न अज्ञान न अबोध संबंध ये संगति रह लगती इसकी अज्ञान होना निर्विकारात्मा कथम बोधात्मा बोधो प्रदेश साधक ज्ञान स्वरूप आत्मा को फिर ज्ञान का उपदेश सार्थक कैसे होगा तत्व से महावाक्य के द्वारा ज्ञान का उपदेश कैसे सार्थक होता है वो तो ज्ञान स्वरूप ही है उसको क्या करना है सूर्य को दीपक जला के क्या होना है सूर्य को प्रकाश करेगा क्या दीपक नहीं कर सकता तो वो ज्ञान स्वरूप ही है जब तो उसको फिर दूसरे ज्ञान किस काम में आना है ये पूर्वादी की कारण है सार्थक तत्र च भाषण का तत्र च बोधा बोधो संबंध कहते ज्ञान और अज्ञान उसी आत्मा में संभव है संगति है उसी सिद्धांत बोलते हैं तत्र च बोधा बोधो स्वरूप ज्ञान और अज्ञान दोनों के दोनों वहीं संगति है अज्ञान हो तभी ज्ञान चाहिए दोनों संगति है कैसे संगति है आगे दिखाएंगे बोरा बोलो समझ सरू ठीक है बोरा अन्य से अबोधात्म वर्तन बोध से अन्य जितने भी अबोध स्वरूप है अज्ञान स्वरूप है ज्ञान से भिन्न जितने भी है अज्ञान स्वरूप होने से बोधा अन्य से अबोधात्मकत्व बोध से अन्य को तो अबोध बोलेंगे माने ज्ञान से भिन्न को अज्ञान बोलेंगे अज्ञान रूप होने से अबोधास रहे तो न संबंध अबोध को अबोध में रखना संभव नहीं है अबोध अबोध में नहीं रह सकता है अज्ञान अज्ञान में नहीं रह सकता यही कारण है क्योंकि बोध से भिन्न सब अबोध है तो अबोध को अबोध में रखना संभव नहीं है ये बोध है इसलिए बोध में रहेगा अबोध भी ज्ञान में रहेगा अबोध भी ये बोलना चाह रहे कैसे बोधा अन्य से अबोधात्मकत्व बोध से भिन्न ज्ञान से भिन्न जितने हैं अज्ञान स्वरूप तो है अबोधात्मकत्व अवकाश रहे तो न संबंध अवध का आश्रय होना संभव नहीं है आत्माश्रय तो प्रसंग फिर अवोध में अवोध रहेगा करके आत्माश्रय दोष आ जाएगा वही व्यक्ति उसी में रह नहीं सकता अधिष्ठान दूसरे होना चाहिए आधे दूसरा होना चाहिए तो आत्माश्रय तो प्रसंग अवोध अवोध में रहेगा मैं अज्ञान अज्ञान में असंबंध सही हो नहीं सकता आत्माश्रय तो प्रसंग और दूसरी बात अनिवृत्ति प्रसंगात और अवोध में अवोध रहेगा तो कभी निवृत्ति के लिए किससे निवृत्ति होना चाहिए बोध में अवोध रहे तो बोध के द्वारा अबोध की निवृत्ति संभव है किंतु अवोध में अवोध की निवृत्ति संभव ही नहीं है तस्य बोध असंभव क्योंकि उसको बोध कभी होना ही नहीं अबोध को क्या बोध होगा तो इसलिए उसका ज्ञान न होने से निवृत्ति असंभव है सोलह के दिन नहीं तमसा प्रकाशात रहता तम जो होता है प्रकाश का आश्रय नहीं हो सकता प्रकाश अंधेरे में बैठ नहीं सकता ठीक इस प्रकार के बोध हो नहीं सकता ज्ञान प्रत्यक्ष तो को अबोध जैसे अज्ञात अंधेरे में कभी प्रकाश रहेगा नहीं उसी प्रकार अज्ञान में ज्ञान हो नहीं सकता ये गुरुवार सिद्धांत के कारण है तस्मात बोधात्मय बोधा समंजस इसलिए बोधात्मा को ही बोध करना संभव होगा क्योंकि बोध से भिन्न मत बोध रहने का आएगा तो इसलिए बोधा बोध स्वरूप आत्मा नहीं बोध ये मानना ज्ञान स्वरूप आत्मा जो ज्ञान होगा यही समंजस होगा समंजसा नंबर सूत्र समंजस न्याय लेता है युक्ति संगत है माने ज्ञानात्मक आत्मा में ज्ञान होना युक्ति संगत है एक परिशेषा विरोध अच्छा सीखना पूर्वाणी जाएगा विरोध होगा आत्मा में अवोध कैसे रहेगा अरे परिशेष ज्ञान है दो ही है बोध और अवोध वही पदार्थ है तो दोनों से अवोध में तो अवोध का नहीं पाया तो अवोध कहां रहेगा परिशेष न्याय के बाद बोध में रहेगा यही परिशेषा से असिद्ध विरोध संभव में असिद्ध है परिशेषा परिशेष न्याय क्या है तो टिप्पणी में परिशेष न्याय बता दिया परिशेष न्याय इसको बोलते हैं प्रसत्त प्रतिषेध है अन्यत्र अप्रसत और शिष्य माने संप्रत्य परिशेष ये परिशेष न्याय युक्ति है जहां पर प्राप्ति थी उसका प्रतिषेध कर दिया जहां जहां प्राप्त है वहां वहां प्रतिषेध कर प्रसत्त प्रतिषेध है प्राप्त जितने भी उसका प्रतिषेध करने पर अन्यत्र अप्रसत प्राप्ति जहां जहां वहां तो प्रतिषेध हो गया अन्यत्र उसकी प्रसति है प्राप्ति है नहीं जो शिष्य माने बचा हुआ वस्तु में जो ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा परिशेष ये परिशेष में आएगा परिशेष तस्मात परिशेष के द्वारा इस प्रभाव कहा क्यों कहते हैं साक्षी कहते देखो अज्ञान कहाँ है आत्मा में ही है गोलात्मक आत्मा पता लगा साक्षी जानता है हाँ, साक्षी व्यक्ति है अज्ञान किससे जाना जाता है साक्षी से जाना जाता है क्योंकि वेदांत मत में सभी पदार्थ साक्षी भाष्य है भावत्व ना अभावत्व अभाव भी साक्षी वास्य है भाव अभाव जो पदार्थ होते हैं सबके सब साक्षी को ज्ञान होता है अंतकरण में वृत्ति पैदा हुई है वृत्ति का ज्ञान है वृत्ति नहीं है तो वृत्ति का अभाव का ज्ञान है साक्षी वृत्ति नहीं है इस काल में हमें पता होता है और वृत्ति है तब हमें मालूम होता है वेदांत मत ऐसा है सर्व सबके सब पदार्थ साक्षी वास्य है परमात्मा वास्य तो सब नहीं होगा किंतु साक्षी वास्य सब हो जाते हैं माने भाव भाव हो चाहे अभाव हो साक्षी वैद्य है तो अज्ञान भी साक्षी वैद्य होता है साक्षी जानता है बोधो भी तत्व को संबंध बोधात्मा में अज्ञान भी संभव है और ज्ञान भी वही संभव है बोध स्वरूप आत्मा में को दोनों संबंध है क्यों घटाड़ी बोधित्व अप्रसिद्ध घटाड़ी को बोधित्व ज्ञान तो धर्म दिखाई नहीं पड़ता किसमें दिखाई पड़ता है चेतन में दिखाई पड़ेगा तो बोधात्मा में बोध रहेगा अवगान रहेगा अबोध भी बोधात्मा में है और बोध भी बोधात्मा में ठीक होना है ये कहा समय हो गया मेरा ओम आप्यायी वाक्चक्षुस्रोतमोदी सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मामा